Amen. पद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथया अथमर्थो मृतो भवति एतावद्यम् पूर्व हृदय में जो रह रहे थे काम जब वे सब के सब छूट जाते हैं तब वही जो ज्ञान के पहले को अमृत जान लेता है अमृत हो जाता है और इसी जीवन में उसको ब्रह्म की प्राप्ति अत्र ब्रह्म समझते व्यक्ति लोग इस अत्र को बहुत उद्धत करते हैं बोला इसी जीवन में इसी धरती पर बिल्कुल प्रत्यक्ष उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है ब्रह्म का स्वाद मिलता है समझते वो ब्रह्म से एक हो जाते हैं अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती समश्नुते पद का अर्थ है अप्राप्त की होते मुंडक के भाग्य में भी समश्नुते आता है मुंडक के मूल में मुंडकोपनिषद के समश्नुते पद आया है वहाँ भाष्यकार ने ये व्याख्या उसकी की है कि अप्राप्त प्राप्त मां शंकी सर्वत्र ब्रह्म ये समझ समझना कि ब्रह्म कोई अनमिली चीज है और मिल जाते हैं वो तो नासमझी का ही पर्दा है ब्रह्म तो तुम ही हो पर्दा तो नासमझी का है इसलिए नासमझी का पर्दा हटा और फिर ज्यो का क्यों अर्थ हुआ कि जैसे कर्म से दो प्रकार के फल मिलते हैं एक कोई आज भी कर्म करते करते करते करते बड़े ऊंचे पद पर पहुंच सकता है ऐश्वर्यशाली हो जाता है और इस जन्म में कर्म का फल न मिले तो मरने के बाद मिले स्वर्ग में पहुंच जाए कई लोग कर्म और उपासना समुचित रूप से करते हैं तो उन्हें और लोक की प्राप्ति होती है कहीं ज्ञान और उपासना का समुच्चय होता है और लोक की प्राप्ति होती है पर जब शुद्ध ज्ञान होता है तो वहां जाना आना नहीं रहता है बिना वासना के आना जाना नहीं होता है और ज्ञानी की तो वासना ही मिट गई सारी तो अब जरा इस बात पर गहराई से विचार करते हैं एक बात तो ये कही गई कि सब कामनाएं मुक्त हो जाती हैं दूसरी बात कही गई कि वे हृदय में रहती थी इनसे सिद्धांत निकलता है क्या सिद्धांत निकलता है कि कना आत्मा में नहीं रहती कामना हृदय में रहती है एक सिद्धांत है वो अब जो लोग वेदांत का संस्कार नहीं रखते उनको इसका भेद नहीं मालूम पड़ेगा कामना मन है मनोधर्म है कि कामना आत्मधर्म है इस बात को लेकर के दर्शन शास्त्र में बड़ा विवाद है और वैशेषिक कामना को आत्मधर्म मानते हैं सांख्य और योग मनोधर्म मानते हैं प्राकृत दृष्टा में तो कामना है नहीं और वेदांत सिद्धांत में कामना को प्राकृत मनोधर्म नहीं समझो प्रातिभाषिक मनोधर्म मानते हैं मिथ्या मनोधर्म इसमें भी फर्क होता है प्राकृतिक मनोधर्म और प्राकृत मनोधर्म बौद्ध और जैन ये दोनों कामना को आत्मधर्म ही मानते हैं परंतु संयम विशेष के अनुष्ठान से ये मनोधर्म जो है काम ये शांत हो जाता है ऐसा जन्म जैन मानते हैं सम्यक चारित्र्य सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि से और शून्यता का ज्ञान होने से आत्मोच्छेद जब हो जाता है आत्मा का ही निर्माण हो जाता है का निर्माण होता है ऐसा बौद्ध मानता है बिना कामना का निर्माण हुए आत्मा का उच्छेद होगा ही नहीं वासना की निवृत्ति जो है जैसे वेदांत में ज्ञान होने से ही अज्ञान का उच्छेद होता है निवृत्ति कब होगी जब ज्ञान होगा वैसे निर्वासन होने से ही निर्माण होता है ये बौद्ध सिद्धांत है तो ये तो आपको विषय में प्रवेश करने के लिए ये मतभेद की चर्चा कर रहा हूँ आप इस बात पर ध्यान दें जब तक आत्मा है तब तक काम है इस बात का प्रतिपादन धर्म अधर्म इच्छा प्रयत्न संस्कार सुख दुख है कितने हो गए गिनती आप कर लेना हाँ। धर्म अधर्म इच्छा है ज्ञान संस्कार प्रयत्न धर्म अधर्म अष्ट आत्म गुणा ये आठों आत्मा के गुण हैं और आत्मा के साथ इनका गुण गुणी संबंध है और इसलिए जावत द्रव्य भावित्व तो है जब तक पृथ्वी रहेगी जब तक गंध रहेगा ये जैसे गुण गुणी भाव संबंध नित्य है हाँ, वैसे ही काम कामी भाव जो आत्मा का है वो नित्य है काम कामी भाव जब नित्य है आत्मा का ऐसा मानते हैं नैयायिक और वैशेषिक आत्मगुण है तो गुण की निवृत्ति होने पर तो वस्तु का उच्छेद हो जाएगा गंध नहीं रहे तो पृथ्वी क्या रस नहीं हो तो जल क्या रूप नहीं हो तो तेज क्या स्पर्श नहीं हो तो वायु क्या शब्द नहीं हो तो आकाश क्या इसी प्रकार यदि काम आत्मा का गुण है तो काम नहीं रहने पर आत्मा क्या होगा परंतु जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी को भी 24 घंटे तो काम नहीं होता है काम माने इच्छा अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा तो इच्छा कई तरह की होती है एक तो होती है जो चीज अनुकूल है और हमको नहीं मिली है उसको पाने की इच्छा और दूसरे जो चीज प्रतिकूल है और हमें प्राप्त हो रही है तो उसको हटाने की इच्छा क्या निष्काम होने की इच्छा निष्काम होने की कामना ये भी एक कामना है इससे तो आदमी को बड़ा दुख होता है आदमी चाहता हो कि हम निष्काम हो जाएं और उसके मन में कोई कामना आ जाए वो तो जलने लगेगा निष्काम होने की कामना भी बड़ा दुख देती है कई लोग तो ऐसे गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं कि उनसे जो ब्राह्मण कहता है कि दुर्गा पाठ करवा लो तुम्हारा तो मंगल होगा तब तो कहेंगे हम सकाम अनुष्ठान नहीं करवाएंगे हैं और दिन भर व्यापार करते हैं सकाम भाव से हाँ। तो उनको उनका ख्याल गलत हो जाता है सकाम भाव से बच्चे होते हैं सकाम भाव से पैसा कमाते हैं सकाम भाव से ब्याह करते हैं सकाम भाव से मकान बनाते हैं और सकाम भाव से देवता की उपासना करनी हो तो कहते हैं अरे राम राम मेरे सब में सकाम हो जाऊंगा तो वो तो मूर्ख लोग हैं उनको तो सकामता निष्कामता का कोई विवेक नहीं है अब आपको ज्ञानी की बात सुनाता हूँ तो जागृत में जो कामना रहती है स्वप्न में उससे विरुद्ध कामना देखने में आती है और सुषुप्ति में न अनुरुद्ध और न विरुद्ध न अनु, न अनुरोधी न विरोधी किसी प्रकार की कामना नहीं रहती सब शांत हो जाते हैं तो अनुकूल कामना जागृत में होवे या विपरीत को हटाने की कामना होवे अनुकूल को सटाने की और विपरीत को हटाने की कामना जागृत अवस्था में होती है और स्वप्न में भी जो अनुकूल भाषता है उसको सटाने की और जो प्रतिकूल भाषता है उसको हटाने की कामना होती है लेकिन सुषुप्ति में कामना नहीं होती है शांत रहती है तो जब कामना जागती है तब भी आत्मा है जब कामना बदलती है तब भी आत्मा है जब कामना सो जाती है तब भी आत्मा है और जब कामना बिल्कुल अव्यक्त दशा में रहती है तो तब भी आत्मा है तो कामना की सर्व दशा में आत्मा का अन्वय है और कामना की सर्व दशा से आत्मा का व्यतिरेक है विवेकी पुरुषों ने अपने को दृष्टा के रूप में अनुभव किया है कामी के रूप में अनुभव नहीं किया है तो अपने अनुभव के विपरीत विपरीत है अपने को कामी अपने को कामी मानना हाँ। तो काम माने गर्धा काम माने इच्छा विशेष काम माने केवल स्त्री पुरुष के मिलन की इच्छा का ही नाम काम नहीं है हम यदि काम शब्द के अर्थ पर विचार करें तो समझो कि वर्तमान सेकेंड के बाहर की माने किसी अगले सेकेंड की किसी भी बात को सेकेंड के भी हजार हिस्से कर दो जिसमें तुम हो सेकेंड के उस हजार में लाख में अरब में हिस्से से आगे के लिए कोई भी बात सोचना काम ही है हाँ भविष्य पर हमारी दृष्टि गई और काम हुआ अच्छा जिस देश में तुम हो जो तुम हो उसके बाहर देश में कुछ भी चाहना काम है और जो तुम हो उसके सिवाय और किसी को चाहना काम है मैं के सिवाय और को चाहना काम है और जहाँ तुम हो उसके बाहर की वस्तु को चाहना काम है और जब तुम हो उससे आगे की चीज को चाहना काम है काम वृत्ति बहिर्देश को बहिर्षय को बहिकाल को माने स्वस्थ स्वस्थ स्थिति से अतिरिक्त स्थिति के काल के हैं और स्वदेश से अतिरिक्त देश में जो वस्तु है उसको अतिरिक्त देश को और अतिरिक्त विषय को जो चाहना है अनुकूल बुद्धि से या प्रतिकूल बुद्धि से इसका नाम काम है और ये तुम्हें कब तक नहीं छोड़ेगी जरा काम की परिभाषा है ना वेदांती लोग जिस ढंग से सोचते हैं उस ढंग से है वो बोले अच्छा भाई किसी को ज्ञान हो गया तो उसकी कामना कैसी हो तो उसमें भी कामना मानते हैं आप ये नहीं समझ ज्ञानी को कामना नहीं होती कहते हैं कि शरीर स्थिति के लिए जितने अन्न की जरूरत है उसकी कामना होगी ज्ञानी व्यक्ति है ना ज्ञानी व्यक्ति है तो उसको अपनी स्थिति के अनुकूल पान की जरूरत पड़ेगी जल की जरूरत पड़ेगी अरे बाबा सांस की तो जरूरत पड़ेगी है? शरीर की गर्मी बनाए रखने की तो जरूरत पड़ेगी गंगोत्तरी का ज्ञानी बारह महीने के लिए लकड़ी रख लेता है कि हम आग जला के गर्म रखेंगे अपने को वो क्यों गर्मी के लिए बारह महीने की गर्मी बनाए रखने के लिए वो क्यों लकड़ी इकट्ठा करता है तो भाई चार महीना जाड़े के दिनों में यहाँ कोई नहीं आवेगा आठ महीने कोई नहीं आवेगा तो उसके लिए अन्न संग्रह कर लो ये गंगोत्री के ज्ञानी के मन में क्यों आता है प्रश्न है बोला तो बर्फीला पानी तुरंत क्यों नहीं हाथ से उठा के पी लेता अपने कमंडलू में ले जाके रखता है और जब उसमें जो बर्फ है वो खत्म हो जाती है जब उसमें जो पत्थर के कण हैं बालू के कण वो जब नीचे बैठ जाते हैं तब छान के पीता है क्यों पीता है ऐसे सांस के लिए हवा चाहिए घूमने के लिए मैदान चाहिए क्यों चाहिए पीने के लिए पानी चाहिए खाने के लिए अन्न चाहिए बारह महीने के लिए चाहिए ठंड मिटाने के लिए कंबल चाहिए रजाई चाहिए और नंगे भी हों तो पुआल चाहिए हाँ पुआल पर सोते हैं पुआल पर बैठते हैं नहीं तो गुफई चाहिए तो चाहिए ना देखो इसका अभिप्राय ये है कि जो परिच्छिन्न वस्तु होगी ना वो पूर्ण से संबंध रखे बिना रह ही नहीं सकते आप कामना का स्वरूप समझो मिट्टी का बना शरीर मिट्टी के बने हुए अन्न से संबंध रखे बिना नहीं रह सकता पानी का बना हुआ शरीर पानी के बिना नहीं रह सकता गर्मी का बना हुआ जीवन गर्मी से संबंध रखे बिना नहीं रह सकता और हवा से बना हुआ शरीर हवा से संबंध रखे बिना नहीं रह सकता और शरीर के भीतर अवकाश है तो वो भी बाह्य अवकाश के साथ संबंध रखे बिना नहीं रह सकता पंचभूत का बना हुआ शरीर पंचभूत के साथ संबंध रख के ही तो चाहेगा ना और जो परिच्छिन्न होगा उसको पूर्ण के साथ संबंध रखना पड़ेगा और जो वस्तु अप्राप्त होगी उसकी लालसा भी उसके अंदर आवे तो ज्ञानी को अन्न नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए गर्मी नहीं चाहिए है? ऐसा लोग सोच लेते हैं वो तो सांस लेने को हवा नहीं चाहिए घूमने को अवकाश नहीं चाहिए कुल का मतलब यह है कि ज्ञानी को तुम एक मिट्टी का पुतला समझते हो ज्ञानी अपनी दृष्टि में तो पांच भौतिक शरीर है नहीं ज्ञानी अपनी दृष्टि से तो ब्रह्म है तो अब देखो ज्ञानी की निष्कामता में ज्ञानी की निष्कामता में और अज्ञानी की निष्कामता में क्या फर्क है अज्ञानी अपने को परिच्छिन्न देश में परिच्छिन्न काल में परिच्छिन्न रूप में मान करके इसी परिच्छिन्न को रखने के लिए जिलाने के लिए है ना पूर्ण के साथ संबंध रखता है और ज्ञानी पुरुष इस परिच्छिन्न में तो अपना मैं रखता नहीं वो तो अपरिच्छिन्न है तो काम जो है उसका आश्रय परिच्छिन्न अहम है काम का आश्रय परिपूर्ण ब्रह्म नहीं है मिट्टी को ठंड चाहिए बोला मट्टी मिट्टी को पानी जरूरी है हो नहीं तो मिट्टी नष्ट हो जाएगी हाँ। द्रवता के बिना स्नेह के बिना मृत पिंड नहीं रह सकता और जल को अपने को बनाए रखने के लिए गर्मी चाहिए और गर्मी को अपने को बनाए के लिए बनाने बनाए रखने के लिए हवा चाहिए तो आकाश चाहिए क्योंकि ये सब परिचन्न है केवल जो देश काल वस्तु से अतीत ब्रह्म सत्ता है उसको अपने पैदा होने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए रहने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए मरने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए कि उसमें न जन्मना है न मरना है और न तो देश काल के आधार से वो रह ही रहा है त्याग है वैराग्य है निष्कामता है ये सब व्यक्ति विशेष की शोभा है व्यक्ति विशेष के साधन है वो तो साधन है है ना और व्यक्ति विशेष ज्ञानी हो तो ये उसकी शोभा है सुनाता हूँ सपना बोला थोड़ी थोड़ी बात ज्ञानी को सपना ना आता हो ऐसा नहीं है वो है ना जब ज्ञानी का शरीर है जब ज्ञानी के मन है जब ज्ञानी की नींद कभी गाढ़ी और कभी हल्की होती है, है? और ज्ञानी के मन पर भी अन्नपान आदि का प्रभाव पड़ता है तो सपना आता है ताजा सपना आपको सुनाता हूँ तो किसी उत्सव में गए हुए थे स्वप्न में तो श्री बाबा जी महाराज थे स्वप्न में हम सब लोग थे सौ में बड़े बड़े लोग आए हुए थे इतने में पता लगा कि यहाँ के जंगल में ढोंगर बाबा आए हैं तो क्या बात है कि बोले वो लंगोटी मात्र पहनते हैं काला काला शरीर है बाल उनके बिखरे हुए हैं है? किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं तो महाराज लोगों ने कहा कि चले उनका दर्शन करिए हमें तो मैंने बताया कि हम तो उनको जानते हैं हमारा उनका तो बहुत प्रेम है हमारे तो मित्र हैं भमरा तो पहले बहुत मिल भी कोई जरूरत नहीं है हम तो देख चुके हैं जो न देखे हो सुझाए देखा हूँ हमारे साथी एक गए उनका दर्शन करके आए बड़े प्रभावित हो तो हमसे बोले कि आप भी चलो दर्शन कर आओ उड़िया बाबा जैसे मैंने कहा कि ये कहते हैं कि चलो दर्शन कर आओ तो हम भी कर आते हैं उड़िया बाबा जी ने एक बात पूछी कि तुम्हारी दृष्टि में ज्ञान का मूल्यांकन है कि रहनी का मूल्यांकन है वाणी को महत्वपूर्ण समझते हो कि ज्ञान को महत्वपूर्ण समझते हो तो यदि ज्ञान महत्वपूर्ण है तब तो ज्ञान स्वरूप तुम ही हो और यदि रहनी को तुम महत्व देते हो तो रहनी तो व्यक्ति की होती है वो तो हाड़ मांस जाम के एक शरीर की होती है कोई कैसे रहता है कोई कैसे रहता है तो तुम दर्शन करने जाते हो उसके ज्ञान का दर्शन करने के लिए कि उसकी रहनी का दर्शन करने के लिए हो गए बोले कि देखो ये जो दर्शन की इच्छा है ना कि अमुक वस्तु अमुक स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है देखने चलो अमुक व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है दर्शन करने चलो है ना अमुक समय बड़ा महत्वपूर्ण है दर्शन करने चलो है ना बड़ी सुहावनी ऋतु है घर से लोग निकल जाते हैं और लंदन में अगर धूप हो जाए धूप हो जाए तो लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं बड़ा सुहावना समय चलो चलो है ना धूप देखने के लिए चलो और हिंदुस्तान में जब धूप होती है तब लोग घर में घुस जाते हैं कि कहीं गर्मी न लग जाए <laughs> तो ये धूप के प्रति महत्व ठंडक के प्रति महत्व देश विशेष की बात हो गई ना देश विशेष की बात हो गई महत्व जो होता है वो अपनी अपना जो बल है वो क्या है इस बात का है ना लेकिन वो हे हे में, में तो नहीं करेगा ईश्वर के सामने भी है ना अपना हो संकल्प में बल हो तो दूर हो जाए संकल्प में बल ना हो हमने कई बार देखा है संकल्प के बल से दूर हो जाता है हम मेस्मरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं है ना हिप्नोटाइज की बात नहीं कर रहे हैं है ना ऐसा कई बार देखा है हमारे साथ दो सज्जन रहते थे गीता प्रेस ने दो व्यक्ति रखा था एक संस्कृत का अच्छा पंडित था पांच चार विषय का आचार था और एक हिंदी का तो दोनों बैठ के लिखते थे वो एक भक्ति रसायन ग्रंथ था उसका अनुवाद मधुसूदन सरस्वती का नहीं वो सारी सूरी का है बड़ा पुराना पांच चार हजार श्लोक है तो मैं हंस तो जो हिंदी लिखने वाला था वो जरा कमजोर था तो एक दिन उसके सिर में दर्द हुआ वो लिखे भी और बार बार घबराए बार बार घबराए तो मैंने एक हंसी की मैंने कहा कि कहो तो हम तुम्हारा बुखार हटा के सिर का दर्द तुम्हारा हटा के हम इनको दे दें ऐसे हंसी की हो उसने कहा नहीं नहीं नहीं स्वामी जी ये ठीक नहीं है हम भोग लेंगे इनको देने की क्या जरूरत पर दूसरा था काशी का पंडित वो बड़ा तगड़ा था उसने कहा कि नहीं ये कमजोर हैं और मैं जोरदार हूँ इनका सिर दर्द हमारे आ जाए तो ठीक है तो वो दोनों हमारे पास रहते थे ना अंतेवासी थे समझो तो उनकी बड़ी श्रद्धा थी दोनों की बड़ी भक्ति थी वो वर्षों से हमारे पास रहते थे तो मैंने ऐसे जिसके बुखार था उसके सिर की तरफ ऐसे हाथ किया और मैंने कहा लो तुम्हारा ये सिर दर्द और बुखार ये निकाला और ये लो इनके ऊपर डाल दिया एक केवल हंसी की बात थी हो कुछ नहीं हंसी के सिवाय और कुछ नहीं पता अब हुआ ये कि उसका सिर दर्द तो तुरंत अच्छा हो गया और उनके सिर में दर्द आ गया वो तो जाके सो गए बेचारे <laughs> और जिसके दर्द था वो लिखता रहा ये ये हमारा कहने उसके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ गया वो है ना दोनों के मन पर ऐसा प्रभाव उसके मन पर ये प्रभाव पड़ा कि हमारा दर्द दूर हो गया और उनके मन पर ये प्रभाव पड़ा कि हमारे दर्द आ गया और मैंने न दर्द निकाला न तो दिया है ना उसमें उसमें मेरी कोई तारीफ नहीं थी केवल हंसी की बात है हंसे ही रहे थे अगर वो दर्द नहीं बदलता तब भी हमको कोई है ना उसमें मजा ही आता तो ये बात आपको क्यों सुनाई कि ये मन का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है जोगी की मानसिक शक्ति बड़ी प्रबल होती है वो कहेगा हट जा रहे बुखार महात्माओं के बड़े बड़े चमत्कार आते हैं और तो स्वामी आत्मानंद जी महाराज नर्मदा किनारे हरदा के उस पार रहते थे उनसे एक महात्मा मिलते आया तो, तो बोले भाई बुखार तो बड़ा प्रबल है एक सौ चार डिग्री बुखार है बोले अच्छा भाई थोड़ी देर के लिए बुखार से कह देते हैं कि चले जाओ हाँ हरि बाबा जी का मनोबल बड़ा प्रबल है बड़ा प्रबल है हाँ एक बार लेते हुए थे लेते ही लेते टट्टी जाते थे हाँ महीने दो महीने से लेते हुए थे एक महात्मा आ गए शाम को आए और उन्होंने काम को सवेरे जाना है तो बाबा उठ के हरी बाबा जी बैठ गए और बैठ के जब उनसे बात करने लगे तो रात भर बात करते रहे न टपी गए न पेशाब किया न उठे न लेटे बोला बैठ के बात करते रहे तो मन में बड़ा भारी बल होता है तो जोगी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा और भक्त ये नहीं कहेगा कि हमारा हुक्म है बुखार हट जाता है भगत कहेगा कि भगवान की कृपा है भगवान का वरदान है बुखार आया तो रहने दो या तो हाँ कर लेगा और या तो कहेगा कि हे भगवान बुखार में आपका भजन नहीं होता है हटा दो बुखार वो जो कुछ करेगा तो सब भगवान से करेगा तो ये जो ज्ञान है ना ज्ञान ये तो आपको दृष्टांत दे के बताया हो ज्ञान जो है इसके सामने जैसे किसी बुद्धिमान और मनोबल वाले पुरुष के सामने भूत दिखता हुआ मालूम पड़े ना तो वो कहेगा कि झूठा है बिलायस हाँ। में एक लड़की को कोई बहुत सताता था वो जब रात को सो गए तो वो कैसा विकराल वेश बना के आके उसके सामने खड़ा हो जाए तो भूत आया है भूत अब वो लड़की बेचारी डरे डरे तो एक ने उसको बताया करे वो भूत भूत नहीं है कुछ कोई आदमी है तो एक दिन वो पिस्तौल लेके सोई हाँ और वो जब भूत आके उसको रात को डराने लगा तो उसने धीरे से दबा दिया और वो भूत के तो लग गई गोली भाई है ना वो तो पहचान लिया गया कि कौन आदमी था हाँ। तो ये तत्वज्ञानी पुरुष जो है इनके सामने जब कोई तकलीफ देने वाली बात आती है ना तो कहते हैं कि अरे तू मिथ्या है है ना हाँ, तू मेरे स्वरूप अधिष्ठान स्वरूप में बिना हुए बात रहा मिथ्या है हाँ। एक बार जब वो मिथ्या कहता है तो उसके सामने आया हुआ ब्रह्मा भी मिथ्या हो जाता है वो शंकर भी मिथ्या हो जाता है उसके सामने बड़ी बड़ी कीमती चीजें भी मिथ्या हो जाती हैं तो कामना जो है उसका आश्रय परिच्छिन्न अहम होता है कामना का आश्रय साक्षी अहम नहीं होता और साक्षी के ब्रह्मपणे का ज्ञान जिसको हो गया वो तो कामना का आश्रय कामना का आश्रय हो गई कहाँ से तो माने तत्व दृष्टि से शंकराचार्य भगवान ने यहाँ ये व्याख्या की काम सभ्य अन्य अभावा जल्दी नजर नहीं पड़ेगी अपने आप पढ़ने से बोला ये कहते हैं ज्ञानी निष्काम क्यों है ज्ञानी निष्काम यो है कि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है अर्थात आत्मदृष्टि से निष्काम है इसका अर्थ हुआ आत्मदृष्टि से निष्काम है कामितव्य से अन्य से अभाव अब ज्ञानी के लिए भाई आपको श्रुति की का एक रहस्य सुनाता हूँ जैसे निष्काम शब्द का प्रयोग होता है ना जिला सर्वे प्रमुच्यंत कामा ये सर्वेश्वरता ऐसे एक आत्म काम शब्द का प्रयोग वेदांत में मिलता है उपनिषद में आप लोग ढूंढ लेना कहीं आकाश अकाम निष्काम हाँ, आत्म काम आत्म कामा आत्मकाम काम उसकी सारी कामनाएं परिपूर्ण हैं उसके मन में ये संकल्प कभी नहीं होगा कि मैं यज्ञ करूं और स्वर्ग में जा करके नंदन वन का भोग करूं क्यों क्यों नहीं होता इसी इन्हीं दोनों मंत्रों के बीच में किसी मंत्र के आनंद गिरी में ये बात लिखी है वो ज्ञानी के मन में ये कामना कभी नहीं होगी कि मैं यज्ञ जागादी का अनुष्ठान करूं और फिर स्वर्ग में जाकर के नंदन बन और अप्सरा और अमृत का भोग करूं तो क्यों नहीं होगी इसका हेतु देखो तो बोले कि सुज्ञानी ये जानता है देखो परिच्छिन्न आत्मा ये जानेगा कि मैं यहाँ से चल के स्वर्ग में जाऊंगा तब मुझे स्वर्ग का अनुभव होगा और ज्ञानी आत्मा को ये मालूम है कि स्वर्ग और नरक मुझ में कल्पित हैं इसलिए कल्पित का अधिष्ठान मैं कल्पित का प्रकाशक मैं तो मुझे स्वर्ग में जाना नहीं पड़ता स्वर्ग तो मुझ में है ही है स्वर्ग तो मुझ में कल्पित है कल्पित है तो कल्पित वस्तु तो हमको नित्य प्राप्त ही है तो मैं ही इंद्र हो करके अमृत का पान कर रहा हूँ मैं ही राजा होकर के सिंहासन पर बैठा हूँ मैं ही अप्सरा होकर नाच रहा हूँ और मैं ही नंदन वन में विचरण कर रहा हूँ यदि कल्पना करना हो है? यदि कल्पना करना हो तो मैं ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक का भोग कर रहा हूँ मैं ही विष्णु के की आकृति के रूप में भाग करके वैकुंठ का भोग कर रहा हूँ और मैं ही शिवलोक का भोग कर रहा हूँ क्योंकि जितने लोक विशेष हैं वो देश के अंतर्गत हैं देश के अंतर्गत हैं चाहे प्राकृत देश के अंतर्गत है चाहे दिव्य देश के अंतर्गत है परंतु देश के अंतर्गत है और देश मेरी कल्पना में है और और, और उस कल्पना का मैं अधिष्ठान और प्रकाशक हूँ स्वयं प्रकाश मैं अपनी कल्पना में चाहे जो प्रकाशित करके उसका भोग कर सकता हूँ ठीक वैसा ही भोग जैसा स्वर्ग में देवता करता है मैं यही बैठे बैठे स्वर्ग का भोग कर सकता हूँ है ना परंतु भोग में अपनी रुचि कहाँ है तो आप काम का अर्थ क्या हुआ हाँ, ये ये जहाँ जक्षत क्रीडन रममाना जक्षण क्रीडन रममाना स्त्रीजिर्वा ज्ञानवा नोप नोपजलम स्मरण निदम शरीरम इस श्रुति की व्याख्या विद्यारायण स्वामी ने अनुभूति प्रकाश में की है वहाँ बोले दुनिया में जितने लोग जो भोजन कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ जितने लोग क्रीडा कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ जितने लोग बिहार कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ जितने लोग विमान में हैं अपने आ, मित्रों के साथ हैं अपनी पत्नियों के साथ हैं हैं ये शरीर में नहीं हूँ मैं अनंत अखंड अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा हूँ और मुझ में मेरी ही कल्पना से प्रतिभात जो कुछ है वो सब मुझे प्राप्त ही है आप तका महा अब एक दूसरी बात उसी श्रुति में आत्म कामा शब्द का वर्णन है ये तो काम का वर्णन आ गया ना इसलिए आपको और प्रसंग बस सुनाता हूँ ये संसारियों को भी जो सुख होता है वो कल्पना में ही होता है पति पत्नी के मिलन का सुख बाहर नहीं है कल्पना में है और धन होने का सुख बाहर नहीं है कल्पना में है ये सारे सुख कल्पना जन्य है वे इस रहस्य को नहीं समझते हैं सोचते हैं कि बाहर कोई वस्तु होवे तब कल्पना बने है? अरे भाई जब बाहर वस्तु हुए भी नहीं आत्मसत्ता से आत्मस्वरूप से आत्मस्वरूप में उत्तम से उत्तम कल्पना हो सकती है तो उसके लिए बाह्य वस्तु की अपेक्षा ही कहा है सुख तो कल्पना में है ये जो सांसारिक सुख है ये सब सब कल्पना में है और जो वास्तविक सुख है वो अपने आत्मा में है अपने सुख का ही तो आधान करके अपने सुख का ही तो आरोप करके हम दूसरे में सुख को दूसरे में सुख को ढूंढते हैं तो दूसरा शब्द क्या है आत्म कामा हाँ। आत्मकामा शब्द का क्या अर्थ है यानी जिज्ञासु में जो आत्म कामना होती है आत्मोपलब्धि की कामना मैं अपने आप का साक्षात्कार करूं ये है ये कामना तो जिज्ञासु में है और वो परिच्छिन्न आम में है और, ज्ञानी आत्मकाम है तो आत्मकाम शब्द का क्या अर्थ है अरे वहाँ विषय भी वही है इच्छा भी वही है आश्चर्य भी वही है स्वयं कामयते से स्वयं काम स्वयं काम्य काम में विषय भी वही है कामना भी वही है और कामयिता जो जीवत्व प्रातिभाषिक जो जीव है प्रातिभाषिक जीव कामना करता है और प्रातिभाषिक अंतकरण में कामना होती है और प्रातिभाषिक प्रपंच में काम्यमान विषय होता है और ये संपूर्ण काम्यमान विषय और कामना काराकारित अंतकरण और कामित्व के अभिमान से युक्त आभास व्यक्ति रूप से भी और समस्त रूप से भी जीव रूप से भी और ईश्वर रूप से भी ये अपना स्वरूप है अपने स्वरूप में बिना हुए ही भाग रहा है तो जो कुछ कामना है तो मैं जिसकी कामना होती है तो मैं और जो कामना करता है तो मैं मेरे सिवाय मेरे सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है यदा सर्वे प्रमुच्यंत कामा ये हृदय श्रता ये बात जानो यदा अस्य सर्वे कामा प्रमुच्यंत है प्रमुचयन से छोड़ दिए जाते हैं ये प्र उपसर्ग भी बड़ा विलक्षण है इसकी आपको कथा सुना में ये जिसके साथ जुड़ता है उसको उत्कृष्ट बनाता है आप तो जानते ही हो है? हाँ। पर निकृष्ट भी बना देता है आपको हाँ, मैंने हमारी सृष्टि जैसी अनिर्वचनीय है ना वेदांत मत में वैसे शब्द सृष्टि भी अनिर्वचनीय होती है हाँ। आपको हम ऐसा शब्द रहे आप जैसे देखो यदि कोई प्रकर्ष की बात कहनी हो प्रकर्ष की बात तो बुरा शब्द को हाँ, लगा दो किसी भी चीज के साथ जोड़ दो है ना ज्ञान का प्रज्ञान हो जाए श्रेष्ठ ज्ञान हो गया ना और श्रेष्ठ ज्ञान हो गया ज्ञान का प्रज्ञान हो जाए तो अध्यापक का प्राध्यापक हो जाए अध्यापक का प्राध्यापक हो गया तो बड़ा हो गया ना बढ़िया हो गया ना प्र उपसर्ग श्रेष्ठ बनाता है लेकिन आपको एक दो शब्द सुना देता हूँ जैसे हार है हार हाँ उसके साथ जोड़ दो पुरा को तो प्रहार हो जाएगा भला अच्छा कारण है ना कारण तारक तारक किसको कहेंगे जो तार दे अच्छा शब्द है कि नहीं तारने वाला तो अच्छा होता है चाहे नदी का तारक हो चाहे संसार सागर का तारक हो लेकिन उसके साथ पूरा जोड़ दो तो क्या होगा प्रचारक प्रचारक माने संस्कृत में ठग होता है बोला हाँ हाँ और प्रचारक प्रचारक माने प्रसारण करने वाला आप ठगने वाला आप धोखा देने वाला उसको प्रचारक बोलते हैं तो ये आपको क्यों सुनाया कि ये सृष्टि अनिर्वचनीय है तो जैसे रूप सृष्टि अनिर्वचनीय है वैसे नाम सृष्टि भी अनिर्वचनीय है और जो अनिर्वचनीय वस्तु होती है वो अपने अधिष्ठान से अलग नहीं होती है और जो अधिष्ठान होता है वो आत्मसत्ता से पृथक नहीं होता है इसलिए इस सृष्टि में जो नाम है और रूप है वे सब के सब अनिर्वचनीय हैं और आत्मसत्ता से पृथक नहीं है काम अच्छा भी है और काम बुरा भी है काम न अच्छा न बुरा आपको आप जानते हैं ईश्वर के भी काम होता है काम तदग्रे समवर्तता श्रुति में वर्णन आता है तो काम यतो एक हम बहुत श्याम ईश्वर के मन में कामना हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं काम तदग्रे समवर्तता सृष्टि के प्रारंभ में काम ही था ये काम क्या है ना ये काम क्या है तो बोले ईश्वर में तो खेलने की कामना है और जीव में जितना सुख अपने को मालूम पड़ता है उससे अधिक सुखी होने की कामना है बोले कि तुम्हारा ईश्वर तो अभी है बच्चा और जीव है दुखी आप देखने ये, ये बिल्कुल यही जिस ईश्वर को खेलने की इच्छा होती है कि मैं क्रीड़ा करूं श्रीमद भागवत में ये बात है बोला आप तीसरे स्कंध में कभी देखना या उद्यम और भव्य क्रीडा के लिए उद्यम तो बालक करता है ये ईश्वर बना खेलने के लिए ये प्रपंच कैसे बनाता है आखिर क्रीड़ा की कामना क्यों हुई ईश्वर को तो कोई दुख जरूर होगा उसको है ना बैठे बैठे बैठे बैठे शरीर जो है ना वो अलसाता होगा तब उसने कहा कुछ खटपट करें है? बैठे बैठे शरीर अलसाता होगा स्व एकाकी ना रमत तथो असर जता एकाकी उसकी क्रीड़ा संपन्न नहीं हुई तब उसने द्वैत की सृष्टि की ये बताना तो ये ईश्वर में क्रीडा का संकल्प है या सुख का अभाव है ये बताने में तात्पर्य नहीं है वो तात्पर्य है ये बताने में कि ईश्वर की कल्पना के अतिरिक्त सृष्टि और कुछ नहीं है, है? और अपने में दुखी पना के भ्रम के सिवाय हमें सृष्टि की कोई जरूरत नहीं है और अपने में परिच्छिता के सिवाय दुखी पने का भ्रम हो नहीं सकता और अपने में परिच्छिता का भ्रम भ्रम कहते हैं कि अपने को भ्रम न जानने के कारण है तो अपरिच्छ अपने को भ्रम न जानने से परिच्छिता का भ्रम और परिच्छिता के भ्रम से अपने में दुखी पना फिर उस दुखी पने के निवारण के लिए वस्तुओं की कामना पर किसकी कामना अपनी ही तो कामना तो कामितव्य अन्य से अभावात जो मुझ में कामी भास रहा है तो भी मैं जो काम भास रहा है तो भी मैं जो कामितव्य भास रहा है तो भी मैं माने संपूर्ण विषय रूप प्रपंच मैं वृत्ति रूप प्रपंच मैं और हमर्थ रूप प्रपंच मैं ये तीनों मुझ में प्रातिभाषिक रूप से ही भाग रहे हैं ये न कभी हुए न है न होंगे इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है प्रमुच्यंते मिथ्यात्व प्रमुच्यंते हाँ। अज्ञान निवृत्ति के पूर्व जो हृदय में उदय होने वाले काम अपने मालूम करते थे वे प्रमुच्यंते वे न थे न है न होंगे इसलिए बिना हुए उनकी केवल प्रातिभाषिक सत्ता है उनकी केवल व्यावहारिक सत्ता है पारमार्थिक सत्ता माने हमारे स्वरूप में ये बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है चाहे हजार हजार काम आने चाहे हजार हजार काम जाए है ना चोर के मन में धन की कामना रहे व्यभिचारी के मन में व्यभिचार की कामना रहे चीटी के मन में शक्कर की कामना रहे है और धर्मात्मा के मन में स्वर्ग की कामना रहे उपासक के मन में ब्रह्मलोक की कामना रहे और जोगी के मन में समाधि की कामना रहे और वे अपनी अपनी कामना को रो लें है लेकिन ज्ञानी जानता है कि कोई वस्तु अप्राप्त है ही नहीं ये तो सारा का सारा अपना आप ही पूर्णात्मक प्रतिभातात्मक भाग रहा है इसमें कहा काम और कहा बेकाम मनुष्य में काम होता है तो ब्याह करता है अब छोटी बात है विवाह में मंत्र पढ़ते हैं वेद का मंत्र पढ़ते हैं को रात कसमय रात बोले कामो रात कामाया रात काम ने दी किसने दिया किसको दिया ये देखो मर ओदात कसमय रात कामोदात कामाया रात कामोदाता काम प्रतिगृहिता ही तस्ते ये वेद का मंत्र हो विवाह में पढ़ा जाता है किसने दिया किसके लिए दिया तो बाप समझते होंगे कि हम निष्काम हैं और पति सकाम है इसलिए निष्काम पिता सकाम पति को अपनी पुत्री का दान करता है वेद मंत्र कहता है नहीं उदास कसमय दास किसने दिया किसको दिया बोले कामोदास काम आया दास काम ने दिया काम को दिया पिता के मन में भी काम है और पति के मन में भी काम है दोनों काम ही के चक्कर में है ये क्या तो ये है कि पिता के मन में कामना है कि लड़की सुखी हो जाए अपने पति के घर में जाके ये कामना तो पिता के मन में है कि नहीं है, है? कि भाई हमारे सिर पर जो भार है वो उतर जाए तो हम निश्चिंत हो जाएं ये कामना पिता के मन में है कि नहीं है तो असल में काम से प्रेरित होकर के ही पिता कन्यादान का उद्योग करता है और कामना से प्रेरित होकर के ही पुरुष पति जो है वो कन्या का पाणी ग्रहण करता है तो कर्म के लिए प्रेरक तत्व जो है उसी को काम बोलते हैं वो जब संवैधानिक होता है तो उसको जीवन के लिए उन्नति कारक मानते हैं और जब अवैधानिक होता है तब उसके लिए अवनति का हेतु मानते हैं परंतु ये काम है ना ये उन्नति का हेतु है कि अवनति का हेतु है बोले असल में उन्नति और अवनति भी क्या है तो वो भी तो अपने संप्रदाय की मान्यता और वैष्णव दृष्टिकोण से यदि कोई वैष्णव शिवलोक में जाके शंकर जी का भूत प्रेत बन जाए हैं, तो उसकी उन्नति हुई कि अवनति हुई है अवनति हो गई हो अवनति हो गई और शैव दृष्टि से शंकर जी का कोई सेवक शैव दृष्टि से शंकर जी का सेवक कोई श्री कृष्ण के साथ गाय चराने लगे तो उसकी उन्नति हुई कि अवनति हुई तो उन्नति और अवनति में भी अपने संप्रदाय का जाति का समाज का शास्त्र का वर्ग का परिस्थिति का जो दृष्टिकोण है वही उन्नति और अवनति का विभाजक होता है इसलिए तत्व दृष्टि से न उन्नति है न अवनति न साधक है न बाधक ये बड़ा क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जब हम कहते हैं कि उन्नति और अवनति धर्म और अधर्म सकामता और निष्कामता केवल शास्त्र के द्वारा ही नियंत्रित नियंत्रित होती है तो एक और हमको कोई कहेगा कि बड़े श्रद्धालु हैं जी बड़े अंधविश्वासी हैं जी ये तो शास्त्र का नाम लेते हैं लेकिन दूसरी ओर अगर कोई समझदार होगा तो ये कहेंगे ये कहेगा कि तात्विक दृष्टि से इनके मिथ्यात्व का दर्शन करके है ना तात्विक दृष्टि से इनके मिथ्यात्व का दर्शन करके इसके काल्पनिक नियमन के लिए शास्त्र के महत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं हमारे जैसा हमारे जैसा स्वर्ग और नरक को और धर्म और अधर्म को और सुख और दुख को और उन्नति और अवनति को मिथ्या जानने वाला और कौन है हम तो तुम्हारे सारे भेद विभेद का ही तत्व में निषेध कर देते हैं आपको सर्वे कामा प्रमुच्यम से प्रमुच्यम से का अर्थ छोड़ दिए जाते हैं छोड़ दिए जाते हैं कि बेटा तुम अपने दायरे में घूमो ब्रह्मोच्चन से मोक दिए गए है ना भोजन थाली में मुख दिया है ना तो काम को काम्यमान विषय को काम वृत्ति को और कामी को है ना मिथ्या दृश्य में डाल दिया मिथ्या दृश्य में डाल दिया अपने स्वरूप में बिना हुए ये स्फूरित हो रहे हैं ये डाल दिया ये मुक्त हो गए मुक्त हो गए का क्या अर्थ हुआ हमारी सत्ता में इनकी सत्ता नहीं है, है? हमारे ज्ञान के हमारे ज्ञान के ये स्वरूप नहीं है ना हमारे आनंद के ये हेतु नहीं है हमारे आनंद के ये हेतु नहीं है हम स्वयं सचिव आनंद गण ब्रह्म मुझ में कहा कामी और कहा काम और कहा काम का विषय तो अथ मृत मृतो भवती जब तक काम का आश्रय और काम का विषय और काम की वृत्ति ये तीनों अपने स्वरूप में बाधित न हो तब तक ये मनुष्य कौन बोले मर्त्य और जहाँ ये बाधित हो गया हाँ मर्त्य नहीं है असल में काम ही मृत्यु है क्योंकि काम जिसको दबोच लेगा वो परिच्छिन्न हो जाएगा काम ने तुम्हारे आनंद को तुम्हारे पास नहीं रहने दिया दूसरे के पास फेंक दिया काम माने तुम्हारा आनंद तुम्हारे घर में नहीं होना दूसरे के घर में होना इसी का नाम ना काम है स्त्री की है तो पुरुष से मांगने जाती है और पुरुष के पास आनंद नहीं है तो स्त्री से उधार लेने जाता है माने दोनों आनंद शून्य है ये हुआ ना काम माने तुम्हारे आनंद को बाहर फेंकने वाला है और काम माने तुम्हारे ज्ञान को बाहर फेंकने वाला कहते कि जब तक विषय का ज्ञान नहीं होगा तब तक काम कैसे होगा है और काम माने तुम्हारे जीवन को पराधीन करने वाला काम जिसका काम होगा उसके अधीन होकर रहना पड़ेगा ना वो जहाँ मिले वहाँ रहना पड़ेगा काम माने जीवन में पराधीनता का आना काम माने ज्ञान का स्वरूप में न रह करके विषय निष्ठ होना काम माने आनंद का आनंद में समापन आनंद अपने में नहीं है दूसरे में होना माने हमारा दीनहीन होना काम माने हम दीनहीन है काम माने हम अपने को नहीं जानते दूसरे को जानते हैं काम माने काम माने हम दूसरी वस्तु के अधीन हैं तो ये जो अखंड काम है आत्म काम आप्त काम सब कुछ मिला हुआ सब कुछ मिला हुआ बोले नारायण कहा जरा आओ शंख चक्र गदाधारी खड़े तो हो जाओ सामने हाँ हाँ तो क्या बात है भाई कि मैं जरा तुमको मुस्कुराते देखना चाहता हूँ मुस्कुरा आनंद नारायण मुस्कुराने लगे मैंने कहा जरा अपना हाथ उठा के हमारे सिर पर रखो कहा रख दिया हाँ वाह कोई बात नहीं अच्छा अब आप पका सकते हैं ऐसे ऐसे हो हाँ हमारे एक मित्र हैं तो एक दिन मैंने वेदांत के सत्संग में बांध पर प्रतिपादन किया कि अपने सिवाय जो कुछ है तो सब कल्पित ही होता है तो कई भक्तों को जरा वो हम कभी कभी वेदांत के प्रसंग में वेदांत की बात करते हैं भक्ति के प्रसंग में भक्ति की बात करते हैं वो तो अपनी निष्ठा है भक्ति में ईश्वर पूर्ण होता है और वेदांत में ब्रह्म आत्मा ब्रह्म होता है तो पूर्णता तो एक ही है चाहे उसमें आरोपित करो चाहे इसमें आरोपित करो चाहे दोनों में आरोपित करो चाहे दोनों में से निषेध कर दो है ना ये तो पूर्णता तो ऐसी ही विलक्षण विलक्षण वस्तु है तो मैंने अपने आप में पूर्णता का आरोप किया और सबको कल्पित बताया तो थोड़ी देर के बाद वो आए बड़े अच्छे समझदार आदमी बोले कि स्वामी जी आज हमारी समस्या हल हो गई मैं बड़ा दुखी था मैं समझता था कि जब कृष्ण के हृदय में कभी कृपा होगी तब वो हमारे हृदय में प्रकट होंगे और हम ध्यान करें तब हमको उनका ध्यान होगा दस वर्ष हो गया ध्यान करते न उनको कृपा हुई न हृदय में प्रकट हुए न ध्यान आया और आपने कहा जब कि अरे ये तो उनके अधीन नहीं है ये तो हम जब चाहे हैं जब चाहे कहें आओ कुछ नहीं ये खड़े हो जाओ ये खड़े हो जाएंगे तो बोले आज मैं स्वतंत्र हो गया ध्यान तो आज मेरा लगा क्योंकि अब तो मैं जब कहूंगा आके कृष्ण आओ है ना तब आएंगे हाँ, अब तक मैं कृष्ण के अधीन भटक रहा था आज से कृष्ण मेरे अधीन हो गए जब मैं कहूंगा जब मेरे ध्यान में आकर के खड़े हो जाएंगे तो ये काम जो है ना काम ये काम के बारे में ये जानो कि ये विषय में से नहीं निकलता ये पड़ोसी में से नहीं आता ये काम अपने संकल्प का नाम है अपने संकल्प का ही नाम काम है निसंकल्पता का संकल्प ही निष्कामता है निसंकल्पता का संकल्प ही है ना और निष्कामता है और नारायण विषय की का संकल्प ही कामना है और इसमें बिल्कुल स्वातंत्र है आत्मदेव का हाँ, इस बात को नहीं भूलना चाहिए ओम